और जो आध थे तो वो सख्त ठंडी तुंदो तेज आंधी से हलाक कर दिए गए जो काबू से बाहर होने वाली थी